हाँ बाबा बात में ओंकारो फौज में नगारो आर नाम सिंह जी आप ओंकारो दे रहा है डालू डाडी बात कर रहा है और आपकी हाजरी भर रहा है गरीब नवाजा हाँ सर ओ हो हो हो दिन दियाड़ो अरे फूक पकड़ियो हाथ जोड़िया के अब हमें छोड़ दे मार मती ना छोड़ू कोई नहीं तेने घना दिन हुआ है तने यूं मालूम पड़ी कोई नहीं के ई धरती रे माथे कई कई अवतार नाच गया और हाँ। आपने मालूम पड़ी को नहीं दशा रवि दश चंद्रमा द्वय दश ऋषिया जान और जगन्न कुंड हीर चेतो वंश छतीश बखान दश रवि दश चंद्रमा द्वय दश ऋषिया जान चार जगन्न कुंड हीर चेतो वंश छतीश बखान वाह जुगा बाबा इन समेरे मायरे का कानी ए राजन पद राजा ए किशन मारी कन्या है नागपुत्री आपने प्रणाय दू अरे मने जीवित दान दे दो अरे आप मेहरबानी कर अरे ऐसी कृपा करो सा जुगा बाबा गरीब नवाजा ए देखे बचन करे बड़ा राज बचन कह अंदर खोए बचन काज हरचंद नीच घर नीर संजोवे बचन कियो बेताल दान लखी कु आप्यो बचन कियो जगदेव शीश कंगाल को सम प्यो बचन कर को वजन करे यानी कर गांजी भन कटिए बेताल कह सुन हो ब्रकम एक बोल बचन किम पलटी वाह जुगा बाबा बीड़ी दुकाला जुगा बाबा जिये देव सभा जिये हूँ करे ਉਹਦੇ हे राजन पत राजा आप आपरी मारी कन्या है नागपुत्री जो को आपने प्रणाय दू और मैंने जीवित दान दे दो आप मेहरबानी करो तू राजा किशन है काटन आड़ है और अड़ी बात करो मारे नाव बढ़ाई बढ़ाइए जुगा बाबा गरीब नवाजा बिन शेमरे माले मायले कानी आप हेज के रवाना हो जाए अरे राजा प्याप की हो गया है जाए परा देखे देख रे आए बिन टेमरे माए ब्यावन हुए बारा बारा नितरा हुए तिमार मारू जद ही पर किए घरे आचार बेचार ब्यावन हुए बारा बारा नितरा हुए तिमार मारू जद ही देखिए घरे आचार बेचार ब्याह कर परो अर पाछा रवानगी की भी है गरीब नवाजा बिन टेमरे मायले कानी हाथ जोड़ परो नाग राजा नमस्कार की होए नमस्कार कर परो जिम दान दी हो मैंने मारे नाम जियाड़े री बढ़ाई है आप बड़ी कृपा की है अरे आप किशन भगवान हो अर किशन को कोई अवतार जागो कोई नहीं एड बात रे माए दस अवतार होया है चार गए माए एक अवतार होनो है नव तो हो गया अर दसवा होनो है इन रे जुगा बाबा बातारी बाता तालियारा पटका लेती उधारा कीना गटका नैदीना पाछा भाग्या बवार खाक में पीजन झूंपड़ी जवार आप पानी रे मायू लेपरी दड़ी आर ले नागपुत्री ने आर पछा रवाने होया है आर गोकर जी के माथे आए पर नवगढ़ निशान को रहा है गरीब नवाजा अरे ओ हो धिन दिहाड़ो आजारो धिन मंगल आचार निथरा ब्याव बधमणा बे गाई जे मंगल चार धिन दिहाड़ो आजारो धिन मंगल आचार निथरा ब्याव बधमणा गाई जे मंगल चार आज रंग रंगारणी मणा जाज नवल्ला ने सखी द्रमीण गोखड़े भजे दूधे बूटा में आज रंग रंगारणी मणा आज नवल्ला ने सखी द्रमीण गोखड़े भजे दूधे बूटा में जुगा बाबा किशन भगवान ने बधाई आर गावरी लुगाया भेड़ी करपरी आर जके गोखे गोखे गोरिया गीत गाए रही है आर मंगलाचार जके हो रहा है आर खूब अच्छी अच्छी बातें बढ़ रही है बिन्ने माए आपने बधाई गरे लिया है नागपुत्री ने और किशन भगवान ने गरे लाया है और आप रे शहर रे माए तो शहर बड़ो भारी काशी मथुरा प्रागवड़ कशनेरी भटनेर दुमंग दुरावर गजनी नमो जे काशी मथुरा नेरी कशनेरी भटनेर दुमंग दुरावर गजनी नमो जे जुगा बाबा बड़े तेरे वर्ष की अवस्था में हाँ अरे आपने वो प्यास लाग्यो के गौआ है आ गौआ ने चारण वालों को भी मैंने दिए कोई नहीं अरे गयारी रुखाड़ी कौन करे छतरी टाल करे कोई नहीं ए रावर जपूत प्रथम झूठे नहीं बोले ए रावर जपूत पर नारी काछन खोले जमराण पाव पाछा दिए देख मतो अब धुतरो के रतार हाथ लवी तरवार तद ए तंत रजपूतरो રજપૂતી ચાવળ જતી ખરી દેહેલી હોય જું જું બાવે છેલડા જું જું ઉજળ હોય રજપૂતી ચાવળ જતી ખરી દેહેલી હોય જું જું બાવે છેલડા બા જું જું ઉજળ હોય संग जड़ जावे नारिया नर मर जावे कट के बाड़किया सुना रमे उन घर में रजावट संग जड़ जावे नारिया नर मर जावे कट बाड़किया सुना रमे उन घर में रजावट जुगा बाबा आप है जी शौक लागी गायारी गायारी शौक है तो दे, देना कर परी बेड़ी गावरी और आप जो शरण वास्ते बनवास के माँ जावे गाया चरावे और खूब नर्ज करे अच्छा अच्छा काम करे और गाया रे बहुत ही सुख बंशी गहरी बजावे आप बंशी बजाए रहा है और आप गाया चरावे है शहरी और बहुत ही अंधकार करे और उन टेम रे माहले कानी आप रो डाटी हो मन बोड़ियो मिराशी और मिराशी है आपने वो मालूम पड़ी कि हमें किशन अवतार जागो है और किशन भगवान तो मैं जाय जांच करिया हूँ और देखिया हूँ और दान लिया हूँ लाख पशाव और दातारी जाए किशन भगवान है किशन हर को कोई बड़ाकारी कोई और जाऊँ मैं देख के आ जाऊँ पाछू ठीक है ओ बड़े हूँ रवाने हो है आप रे गाँव और निर्दकार कर रहे हो है और किशन का गुण गाए रहे हो है गरीबन वाजा और गुण गावते गावते गावते तो छोटो बच्चा आयो हो नहीं और दीठे के हो कोई दीठे के कोने आप देना चरावे और बंशी गहरी गहरी टेर लाग रही है बंशी की बंशी के बजाने वाला और धेनु के चराने वाला वो किशन है जो कम गिरी बन माजा बिन टेमरे माले का नहीं और रस्ते रस्ते बेतो बेतो आवे और आप मार्ग के माथे ऊपर आर खड़ो रहे हो नमस्कार कियो खम्मा गणी गरी परवर आपको किशो गाँव है तुम कौन है भाई तो कौन है कहाँ जाते हैं कहाँ से आए हैं पूछत ब्रजवासी तुम कौन का मिरासी और कौन घर जाएगा अरे भाई तू कटे गो है कौन है अर कटे जावे है और कौन नहीं है तो देख रहे बोलियो है कि मैं तो मिरासी हूँ किशन भगवान को डाडी हूँ और किशन ने जाचने जाऊं और किशन भगवान का दर्शन करने जाऊं अरे भाई किशन ने तू देखते देखिया ओढ़खता है कि नहीं ओळखे दाता जी भेड़ा वेड़ा कोई नहीं देखिए ओढ़खूँ कोई नहीं नामून सुन पायो है का नाम है सरवणा में क्या किशन महा बड़ाकारी है और ऐसो मेरो जजमान है अच्छा पूछे तो ब्रजवासी तू कौन का मिरासी और कौन घर जाएगा कि मेरा जजमान कौन है कि गौआ के चराने वाले और बंसी के बजाने वाले और ओहो हो मथुरा में रहने वाले वो मेरा जजमान है मथुरा में तो रे है और गोकर जी जमाए और धेनु चरावे वो मेरा जजमान है आप नमस्कार कियो अहुकार आदर दिनो आव घणो यादर घणो घणो नैण को निहे ओझण घर सदाई जाइए भाई पत्थर बरस मेहे आव घनो यादर घनो घनो नैण को निहे ओझण घर सदाई जाइए भाई पत्थर बरसे मे आव नहीं यादर नहीं नहीं नैण को ने जिण घर कबुअन जाविए भाई कंचन बरसे नेह आव नहीं आदर नहीं नहीं नैना को ने जना घर कबू न जावीए भाई कंचन बरसे में आव गणो वे आदर गणो वे बठे तो हदा ही जानो निमणकार करनो और दर्शन भी करना ऐर नीजना कहीं है कोई नहीं तो क्या ठीक है आ तो बात ठीक है भाते जा जावी ये जा बसी है ब्रजलाल और गोरख भेटना हर मिलना एक पंथ दोय काज भाते जा जावी ये जा बसी है ब्रजलाल गोरख भेटना हर मिलना तो एक पंथ दोय काज पर भाते पिंपड़ा पूजना मैं गई कुल अपन है की लाज को पिंपड़ा पूजा हर मिले भाई एक पंथ दो काज पिंपड़ा पूजना मैं गई कुल अपन है की लाज पिंपड़ पूजा हर मिले तो एक पंथ दो काज जुगा बाबा और गयो है यार आप दगे दगे तो रवाना हो गया है लारे लारे मीरा सी रवाना हो गयो है यार आपकी गोकड़ में जायपरा निशान घुराया है कि आज हमारा मिराशी आए है और डाडी बाबू आयो है मांगने के लिए ये किशन का डाडी है बहुत इसकी खातरी बजाओ और बहुत इसको आउकार आदर देओ और आप अच्छो काम कियो और अपनी कुड़ी रो है और कुल बाजे है और जगह में कहीं बात है निमो निमो गुरुदेव निमो किरदा अविनाशी निमो आदत करोड़ निमो हर भगत दशनाम सन्यासी निमो जैन जोगेश निमो जगम शुक्राशी चांद सूरज धरण गिगन पवन पानी पीर फकीर लख चौरासी जून तो जिणरे आगे सब कोई निमो आर निमन पद मोटो है अच्छो काम हो और आप मीरासी आयो रंग बिलासरी माता की भी और गावे बजावे है और आपने रिजावे है और आप बैठा है और माता जशोदा जी देवकी जी वसुदेव जी विराजमान होया है ब्रजगे माय मुन टेमरे माँ लेकानी दो एक तीन वर्ष दुकान पड़ गयो दुकान पड़ियो भी कारण हूँ आप री देना घास मिले नहीं घास मिले नहीं जिक्के कारण हूँ आप अरदास की भी परमात्मा ने कि हे परमात्मा इंद्राजा आवे और बरसात करे इंदिरा जहाँ आवे बरसात करे तो अच्छी बात बने और मेरी गाया है ओ हूँ चराने वालों हूँ और मेरी गाया की दिया देखो तो गाया कड़ी की के बोहो रूपी का नामती करो बोला अवध शरा छोड़ा मती ओट गायक है नर तेरा घोड़ा महरा डोड़ा काट भग्या कगदोट खलक न पचाशा खूटा नरियंद हंसा खेल नहीं अजय विषपत बहा फूटा तो महारा सा सारा घण के मही खुदा बिगड़ पगा खुर सारो और मुर सारो पण ही तण ए छुरिया छे तलवारा छहिया महारा चांबड़ जाय पचटिया छे काजड़ पियड़ धोड़ पुकारे बदड़ आण करो बरसाल के मंगल तना घुरावो माजी मो गौरो काल सुकाल जी बोह रूपी काना मती कर बोला अवज शरा छोड़ा मती ओड गाजा कह अनर अनरथ रागोड़ा हरा डोला काट बग्या खग जोड़ खलक शमान पचासा खूटा और नरियंद हंसा खेल नहीं अजूई बिशपत बहा फूटा तो महाराषा सारा घना के मही खुदा बिगड़ पगा घुर सारो ओ मुर सारो पणा ही तना ए छुरिया छे तलवारा छहिया महारा चामड़ जाय पछटिया छे काजड़ पियड़ धोड़ो पुकारे बादल आना करो बरसाल के मंगल तना घुरावो माजी मो गौआरो काल सुकाल जी बोहरू बोहरूपी काना मती कर रो बोड़ा इंदिरा जा के अर्ज की भी है और जुगुचार चल जाए चौकड़ी एक न जावे चौक बहुतर जाय इंद्र एक राज करीजे इंद्र अठाईस जाय ब्रह्म दिन रैन गिनीजे ब्रह्म दवा दर जाय लुद्र की घड़ी कहीजे लुद्र दवा दर जाय ईश्वर को नेम कहीजे ईश्वर शैठ सर जाय शगत श्रृंगार सजीजे और सो शक्ति मर जाय कल्प का भेद कहीजे विद विदरभ की बीणती कल्प भया प्रमाण कही तो बिरमा गिण गया भाई अणघण गिण्यो मती जान बिरमाशे उतपत भये चुत्र चेलाचार गवर पराशर मध्य गलाद वंशावतार बिरमाशे उत्पत भये चुत्र चेलाचार गवर पराशर मध्य गलाद वंश अवतार जुगा बाबा भात में हुकारो फौज में नगारो और बदायर गरे लिया है आर बैठे बाबरी गोखे गोखे के मंगलाचार हो रहा है गोखे के गोरिया गीत गाए रहा है और जा चढ़ाई कर परी अरे बैर नारे किशन के माथे कोप कियो है कि ब्रिज के है पानी कोई नहीं तो पानी नहीं है तो ब्रिज ने हैंगी ने डबो दे हाँ अड़ी बात करा इंदर किशन पर कोपियो जाने उलट घटा जाना पार और तंबू सुजरा तणिया जटे पड़े न बूंद गारम इंद्र इन्द्रकेशन पर कोपी यो यो जनयुलट घटायण पर अठे यहाँ पड़े न बूंद लिगार इंद्र जा आयो है बारे ही मेघ बड़ा ले और बेटी बाप बापरो माथे भरसण में आयो है और देखे तो बड़ा बे है लारे इंद्र जा आवे और बेटीरिया बारो गेरो गेरो गाज रहे है आहा हा बीजा भड़ा बड़ा जड़ा प्रगड़ा मोरा कड़ा हड़ा मिंद्रा ले बाजा भर छड़ा रातू आवे राजा इंद्र बीजा भड़ा भड़ा जड़ा प्रगड़ा मोरा कड़े हड़ मिंद्रा ले बाजा भर छड़ा रातू आवे राजा बाबा बादल जानी नृप जड़ ढोल ध्रमंग गाज और बीज चेरा का हो रे बो इंदु पुरणी जे आज बीज भड़ा बड़ जड़ प्रगड़ मोरा कड़ हड़ मिंद्र ले बाजा बर षड़ रातू आवे राजा इंद धरती तू सब हगणी तेरे इंद्र दिशो भरतार ओ पैरण लीलो कंजमो धरे ओढ़ण मेघ मलार धरती तू सब हगणी तेरे इंद्र दिशो भरतार ओ पैरण लीलो कंजमो धरे ओढ़ण मेघ मलार जुगा बाबा दे नगारे डाको नरेंद्र जा चढ़ाई की भी है गरीब बनवाजा बिन टेमरे माए ने ब्रिज ने हो चाहे बहुत कर बड़ो भारी ब्रिज गयो हे अंदाजा साहब किशन भगवान माने तो डुबो दी और आप तो किसा किशन भगवान हो और आप रे माला फेरोड़ी है पर मैं डूब जावा और पानी रे मैं डूब पर जावा पछे आप जो कद मारे कार करो और कर मादर सहायता करो तो किशन बोलिया है कि ना नी मरे रे भाई माडी कुण मारे दई हुक्म बिन दानिया पपैया बड़ ढंखरो तेरे ऊपर भम्मे सिंचाण ओ आएड़ी ईश्वर संधियो हमें के दो बंसे पिराना पपैया बड़ ढंकरा तेरे ऊपर हमें सिंचाण ओ आएड़ी ईश्वर संधियो हमें के दो बंसे पिराण के दो के यूं बंसे के शर चूकी मुठी डिगी जाय लगी सिंचाण ഐഹേടിയോം ഹരോ ശബ്ദ പഞ്ചോം വിരാണ ശര ചൂക്കി മുഠി ഡിഗി ജാജ ലഗി ഷിചാണ ഐഹേടി വിഷയോം ഹരോ ശബ്ദ പഞ്ചോ ए अंदाता जी आप ब्रजधारी हो और दुनिया है डूब जाई मैं राजा इंद्राजा बहुत ही बड़ो भारी आवे है और दके है जी के हूँ ताने को गड़िया नागती कांठड़ आवे है छिन छिन करती आवे है और इन्याम कर दी और डबो दी तो आप बोले ना ना ये ब्रजगा बाशिया कोई होच मत करो ना और आप है जिकी कड़ो इतरो होच करो और होच करन रो काम ही कोई बिन टेमरे माहले कानी इंदिरा जा माथे आए परो और घोर लगाई है बिन टेम गिरी बनवा जा आप जाने भाई हाचानी मार दई और दुनिया तो बंचे ही पर कोई तो अब कहीं करा रे भाई यूं करो रे ग्वालिया देव मारे ग्वालिया हावण ने भादरुओ भेड़ो भादरुओ ने काती के थारी गत थोई जाने मारा ग्वालिया रा हाथी हावण ने भादरुओ भेड़ो भादरुओ ने काती थारी गत थोई जाने मारा ग्वालिया रा हाथी जुगा बाबा अड़ी बात है तो आप हैंगी बाई रे भेड़ा हो परा ए अपनी डांगड़िया ले परी अरे यूं बात करो ई पहाड़ है नहीं हो हाँ गिरी मेरे पहाड़ इन्हें आप ऊँचो कर और अदर कर दा अदर कर दे जना ब्रज के बात है निशान कर दे और इंदिरा जा कितो भी बरसी तो कहीं देखो आवे को ये नाता जी भाकर की करो चावा के नाना थे देखो तो करी घनारा हाथ रड़ी आवना का खेत का खड़े भाई घना तेवड़े नहीं तो जो तेवड़े जो कोई काम कर ले वे घना जीते ये अंदाता आप यूं आप कहो अरे घना जीते है तो ठीक बात ही है पर ऐसी बात है के आवरे आव तू शरण वीर की मान रे मान मुड बचन मेरो के एक ही ठोकर लगा तू कहाँ उड़ जाएगा चार ही भुजा बसे काल तेरो तो किशन है अरे आप हो दया करो तो आप दया हो जावे अरे नहीं ना तो एक ही वाल है कोई तो क्या ठीक है लो भाई जालो हमें शो एक डांगड़िया ले अरे आपने ग्वालिया हाथी आ जगह ने कहो आली मुश्ती आ मिंत्री आ जगह ने कहो आप जालो ई पहाड़ ने ऊंचो कर दिया और उठाई लिया उठाए अरे गिरी मेर पार है जो गोकल रे माते करना का अरे बिज रे माते है जो रिक्शा कर दे जुगा बाबा रिक्शा के हमारे ग्वालिया ग्वालिया आप अरे डांगड़ी तो किशन ऊंचा होंगे तो वो किशन ही हो ब्रज बटन गिरी नग धरणा चढ़ाणा सिर चणा गात और गोरड़ा चढ़ाणा जुद्ध जीताणो जुद्ध जादम जदुनाथ ब्रज बटन गिरी नग धरणा चढ़ाणा सिर चणा गात और गोरड़ा चढ़ाणा जुद्ध जीताणा कोड़ो जादम जदुनाथ ए अन्नाता जी आप ब्रज का भाषी हो पहाड़ है जो तो ये गिरी मेरे पहाड़ नगे माथे उठाई लियो है आर गोकड़ है जेकरे मां रिक्शा कर नहीं है अर गिरवर पर दायरोड़ो है अहो गिरवर्ण धारे बेग पधारे दे धूतारे बलदारे धुर पैंड हमारे करक बसारे जय जय दुख भंजन दैत नरंजन निमो नरंजन नरकारण जी निमो नरंजन नरकारण जी निमो नरंजन नरकारण बामन बृप धारे बिरम पधारे पशु तोहारे बलदारे धुर पैंड हमारे करक बसारे जय जय दुख भंजन दैत नरंजन निमो नरंजन निरकारण गुरु निमो नरंजन निरकारण जुगा बाबा अर रिक्शा धोई है ब्रिज का बोले ओहो धन्यवाद है किशन ने बहुत अच्छो काम कियो है और अड़ी अड़ी बात ब्रिज ने उबार ली भी है वाह किशन वाह किशन वाह वाह किशन वाह जिये बात करनी हो जुगा बाबा जिये हूँ करेगो देना फूल मरे भाषणा जिये जिए शवागो छत्र जारी जिये कैलाश जी जी अंदाता जी राज कायम छत्र छाया ओ इन टेम रे माहले कहानी आप है जो को तो बाबा जी कारण की है કે સિંહા એતી આંકડી પર માર્યો ની ખાય અતિજી ફળ જા પડે પછી ભગાલા રે ન જાય સિંહા એતી આંકડી પર માર્યો ની ખાય ત્રીજી ફળ જા પડે પછી ભગાલા રે ન જાય बस यहाँ बा- जुगा बाबा अरे किशन तो भगवान होई किशन को कोई होई कोई नहीं और आप है जगह दुनिया राजी हुई है और भगवान को व्याकरण कढ़ियो है व्याकरण खूब अच्छी तरह पढ़ियो है जी राजा या इंद्र राजा मिनट ब्रज हेठो मेलो ब्रज हेठो मेल परो अरे बा बात याद आई ओहो मारी माता ने देवकी जी ने राजा कंस तो बड़ो भारी एक दुख दिनो बा बात याद करनी है अरे मामा साहब ने यूं पूछनो है कि दुनिया में माँ है मान को और अवतार कोई शेर है कि नहीं है नहीं है जुगा बाबा करणा स्वरूपी महादेव राया गरीब बनवाजा तप तेज जन एक योटी सगति भगति पति की भई है निकलंक है कछु कलंक नहीं जुग ज्योत प्रकाश झलंक रही है सूर्य चंद्र गणेश महेश मिले जब ब्रह्मा विष्णु गुंज करे है किन के कुल में किन की पत्नी किन की धीकू पार तरे है तपाते अनेक ज्योति सगति भगति पति की भई है निकल अंग है कछु कलंक नहीं जुग ज्योत प्रकाश झलक रही है सूर्य चंद गणेश महेश मिले जब ब्रह्मा विष्णु गुंज करे है किनके कुल में किनकी पत्नी किनकी धीगू पार तिरे है जुगा बाबा करना भगवंत का ज्योतिष रूपी महाराज रा अर ले परी फौज पाचा ऐशो गरीब नवाजा राजा कंस रे माथे अर भोज ले बाणावली ले अरे पास रवाना हो जा रवाना हो जाए बीटे मुंह दाने को श्रवण कर परो और शक्ति की अरदास की भी है और जगदम्बा ने अर्ज की भी है अन्य शक्ति तो बर वही है और शक्ति का ये तो पुत्र है और शक्ति बेले ही है ईंट और जाए परा अरे गाँव रे किनारे शहर रे किनारे खड़ा रहा है खड़ा रहा बिन टेम कठे रहते राजा कंस अजमेर हाँ अजमेर है ये अजमेर के माथे रहते और अजमेर युद्ध आए और दोड़ो हो जो है और बेटे बाबरी फौज खड़ी की भी है बढ़िया जगदम्बा ने हनुमान ने सोर्स जोगणी बावन बीरुआ ने रियाज किया है क्या ना कृष्ण भगवान कहीं के है छंद कड़खा डगडमरु बाजे अमर गाजे बामन भैरू बेताला जाहू का भूता रामक दूता लंक पहुजा जा तत्काला लंग बहु जात काला जा बाग उचारा असको मारा कारज सारा मई पाला रामन के लाला तेज बसीला हरिहर ले गयो पताला हरिहर ले गयो पदाला कस लाल लंगोटा कर मैं छोटा जाप हुछा अजनी लाला देवा मई बढ़कर खिले खिले खड़ कर क्रोध धुदारा बजराला यूं क्रोध धुदारा बजराला दुष्टन को मारन कारज सारन लंक पधारन प्रतपाला लंका गढ़ तोरन अरिमक मोरन पत्थर भोरन भिगराला बतर भोरन बिगराला संखेतर पाला भीर भिताला पीछन डमरुआला तिरसूल भलक के कूदन लंके खेचर भूचर खुबराला माँ भीर कुंपाला दीन दियाला संतन के प्रजपाला जुगा बाबा संतन के प्रतपाला बाजे मर्दंग हुताल उबंगू घट धोनी गू घर माला अब खेचरी भूचरी नाचन लागी मस्त भे खिद्रपाला जय जय बजरंगी सब गुण संगी बेटन तंगी मतवाला तम हो बहरंगी भैरम जंगी गल फूलन की जय माला मेगा दी के सती चली बबगती लगती लिच भन तत्काला लगती लिच भन तत्काला सर जीवन लाना पाड़ी उठाना प्राण तजे हो दर्त लाला जय राव पुराला जय घुबराला जय राव भुराला जय घुबराला काल युगाला भिगलाला घल में फुलमाला निदिर बिझाला जय जय अजनी हो लाला ओ जय जय अजनी हो लाला सिंदूर स्वरूपा दद के धूपा जोगण गण सूपा छगरा लाम मुख मुख में गामी सदा सुहामी संतन गामी सुखपाला जी संतन गामी सुखपाला बंदर सिंहवारा कर किलकारा लंक दवारा मस्ताला लंक दवारा मस्ताला जोगनी सिंगली नी बार नबी नी आरती की नी रदूलाला हनुमान हटीला रंग रंगीला तेज बसीला प्रजपाला सुगरीब श्याशा दास कपीशा जटा झूठ बंदर वाला जुगा बाबा जिये देव सभा जिये हूं करे दरणाल અમે જુદ રચ્યો તો બેટી રે બાપરો એને ભાવરો રચ્યો જોગો પછી મત પૂછો બાતા ગરીબ નવાજા आप तेरे माँ खूब अच्छी तरह युद्ध कर परो और राजा कंस ने हराए हटाए और दुश्मनी काट परी अनीति से जाते हैं राज तेज ने वंश के तीनों ही ताला जड़ गया भाई कैरू रावण कंस अनीति से जाते हैं राज तेज ने वंश ए, तीनों ही ताला जड़ गया भाई कैरू रावण कंस जुगा बाबा नाश कर परो आर खतरनाक कर परी आर पाछी आपकी फौज समाह परी आर गोकर जी ये माते गया है आपने बधार पाछा लिया है कृष्ण भगवान अवतार धारणा की भी आर दुनिया है गावे कृष्ण कृष्ण करे है आर कृष्ण को नाम गावे दुनिया भी गावे अड़ी बात है दातारा री अड़ी दाता रामन भावंत बैरी मंगत पावनो अणसीत्यो यावंत गाय प्रमाण पूरी कर दीनी है डालू डाडी तो अर दातारा सारे ही साथ सुन ली है और अड़ी बात राजा कृष्ण भगवान की बात है बाबा जुगा बाबा बात कहता वार लागे ऊँकारे बात प्यारी लागे शार बाबा शार पलमा नहीं रगार माता शो तेजी दुबड़ा शो टार तेलरो पड़ो घृतरी धार तो बीशाई बाता नहीं विचार जुगा बाबा करुणा भगवत आया ज्योतिष रूपी महाप्रभु आया है तो नागिर चढ़ा ठाकरा रे अवकार झुक रहा है और हंगो गोड़ कहीं बात करे के गाँव रा टोकड़िया तो चारे और आप जो पेट भराई करे ठाकुरो हिरदार जुगा बाबा ठाकुरो हिरदार पर कर्मदारी कहो के मत पूछो बात जेड़ो अरे आप है जगे हम गाँव रा तो टोकड़िया चारे है और ने हूँ ईश्वरदास जी बारठ पधारे आए जाए नागर साड़ा गए बेड़ू नाग जी के और जा रहा जोधा वहाँ से बैठा है उन टेमरे माले का नहीं आयर तो आप ओढ़ के हा कोई नहीं ऐ दी बाई पछाण ही कोई नहीं पछाण कोई नहीं भी कारण हो आऊ कर आदर दिनों को आऊ कर आदर दिन दिनों दिन आप बैठा मेरा मन में जाने ईश्वरदास जी के भाई आ बात ऐ तो कोई जाने नहीं कोई बीने नहीं कोई ओढ़खाण नहीं कोई पछाण नहीं आलू कटे बीजी ठोड़ी रे हाँ जाहिर आप रिकॉर्डी जमाए पूछो ए बार जी हाँ ठाकर साहब जी કે આપણે રાત પાછો મારે રહેવણો કોઈ હકરો ઘર હોય તો મને બતાવો કા મને રીસ આવી ગઈ રીસ कैसी गई कि ए तो अवकार झुके है ए महल माड़िया हवेलियाँ और बेटे बारे घोड़ाओं जगह बाल भरी है हाथी न्यारा ही घूमे हैं ऊँट न्यारा ही घूमे हैं और ए बार सिरे याद दाय आया ही कोई नहीं और एड़ी बात करो तो आप भलाई पधार सको ठीक है कैसा बीजी तो अटे कोरड़ी है कोई अटे कोडरी है हंगे रही ओ हंगे कोड रहे हो जाओ बरा जो रात रा हो रहा रहे हो एंड ठीक बात आप आपरी खादरी बजाई हंगे रे जाओ बरा हुआ शाह अब बड़ा काबरो हो को चलम डपले आपरो जोरणो को मत घाट घोड़ो खास रवाना हो या बाधारी बाधा टाड़ियारा पटका लेती उधारा कीना गटका नेंदना पाछा भाग्या बवार खाक में पीजन झूंपड़ी जवार बड़ा उठ रवाना होया आप जाने भैया तो बात ओढ़ खाने तो कहीं है कोई नहीं पर आपनों कहीं लियो आपने रात पास हो रहे आज रह जावा कहीं अब कहीं तो वो तो भगत हो ईश्वरदार ईश्वरा परमेश्वरा ईश्वरदार जो वचन झूठ जा तो कोई नहीं हर हर करता हर भजो हर मती हिया के संत सदा में जे हेड़ा ने क्रोड़ी धज किया हर हर करता हर भजो हर मती हिया संत सदा में जे हेड़ा ने क्रोड़ी धज किया जुगा बाबा ओ आपरे आपरी एक बूढ़ी सो माँ दादी जेके रो पालन पोषण करे गाँव रा टोगड़िया जके चारे है आपरी पेट भराई करे ए पूछते बारे निकलती गोरड़ियों बारे निकल पूछो कि भाई हांगे गोरड़ी कोरड़ी कटे है रे थे मैं जाने भला भगवान हांगे रे कोरड़ी है क्या श्या खियो हांगो के हांगो गोड़ है नी ओ हांगे गोरड़ी कोरड़ी है बा कटे तो बांगो वचन है खाली जातो को अरे मैं तो वजनदारी हाँ ए आप रमाने जाहिर खड़ा रहा तो ऐ पूछते पूछते जावे जो आठ टेम हुई है भी टेम रा अपना गाँव रा टोकड़िया लाए परार अपो आपरे घरे छोड़िया है अरे आपरी मारे कने बैठो है सेवा बजावे माता तीरथ पिता तीरथ तीरथ जेठू बंधवा बचने बचने गरु तीरथ तो बड़ो ही तीर्थ अभ्यागता आपकी माता की सेवा करे और बहुत माता पिता के कहने वालों और छोटी बच्चे के उम्र हो तो छोटी उम्र रे माँ गरीब बनवा जा छोटे थे कहेगा माँ बाप तो हा कोई बूढ़ी दादी ही भाई जी तो आप पालन पोषण करे और आप पूछता पूछता आवे है जो आप नजर पड़ी माथे हांगे गोडरी ओ दिन घड़ी दिन भाग दिन घड़ी दिन भाग आज ईश्वरदास जी मारे घरे पधारे और पूछता पूछता आया कि हांगे गोरी कोरी खी अरे भाई तो अड़ी बात है तो हूँ जाऊँ आप है देखो कोई पिछोड़ो लेबरो एक सेठ कने गया आप रे बोरो हो जाके कने जाविर कर सेठ साहब एक पिछोड़ो मने दिला दिराजू हंगा कहीं करो पिछोड़े ने के ईश्वरदास जी बारठ आवे को वारे देखे बेचाऊँ और बिछाइत करूँ गण माथे माथे आप अठे पधारी आज मारे कने रही ईश्वरदास जी ओहो हो हो दिन घड़ी दिन भाग ईश्वरदास जी बार अठे पधारे के हाँ सर ओहो वाह वाह तो अड़ी बात है तो ठीक है और ले पिछोड़ो अरे शामे गियो है जहाँ नमस्कार कियो आओ आओ आओ हंगा आओ हंगा आओ हंगा हंगा आप रे तो कोर रही है ये अंदाता जी खटे मारे कोरड़ी हूँ तो गावरा तो टोगड़िया चारूँ और मजूरी करूँ पेट भराई करूँ और आप दर्शन होया है तो आप कहो तो कोरड़ी हो जाए तो आप रे धने और आप रो वचन निकलो तो कुड़ू जावे को जुगा बाबा करना भगवत का आया ज्योतिष रूपी महाप्रभु आया है विन टेम रे माले क्या नहीं पिछोड़ा तो, तो के बिछावना आरू कर दी ना है ई श्रद्धा जी माथे माथे बह है अरे घरे गयो घरे जाए डोलियो लाए ઢાળન खूंटो दे दिनो घोड़े ने बांध ઘોડેને બાંધ बांध હોય બાંધ પરો બાળજી આપ તો અમે हूँ थोड़ो जाऊँ आपने सीधो સીધો ले और आ जाओ जुगा बा जाओ હાંગા आपने ले આવો और रात भर थारे ना हांगा बात करा और आज ही करा अच्छो जुगा बाबा जिये देव सभा जिये हूँ करे देना फूल मरे भाषणा जिये जिये सभा को छत्रधारी जियो जियो जुगा बाबा उन टेवरे माए आप हेजो તો સમાન લાવણને ગયો પ્રો गाँव ગામરા ટોગડિયા चारे हो कने धन हो कोई पैसे बिन माता के है पूत है कपूत जी पैसे बिन भाई के है भाई तो कदाई है पैसे बिन सासू के है कौन का जवाई है और पैसे बिन घर की नार वही घुरा रही है कुर्ज के पोहरे में के सुनो कवि राजा के है डालू सुनो कव राजा तो ये पैसे की बड़ाई है बड़ाई है ये पैसे की बड़ाई है पैयो कने हो को पर हो दिल रो के दिल जारा निडर घाना बे डाराना भाखर डीलो के लंबे पर लागा लड़ोना बे भुर जाड़ा भीलो दिल जारा निडर घाना डाराना भाखर डीलो लंबे पर लागा लड़ोना बे भुर जाड़ा भील बाबा जुगा बाबा काल जो इतरो मोटो हो उगियो केहूं चावड़ लायो केहूं श्यामान लायो केहूं गहूं लायो केहूं गिरत लायो केहूं खांड लायो घोड़े रे घास मंगायो खूब अच्छी तरह रात रात बातें की बातें बिकता की हांगे जीरे हार रो आप उठिया एक चार एक हाथ रो कामड़ियो मेघवाड़ ले उठे बनो ना क्योड़ो हाँ आप उड़ी करिए आप बिराजो आप होको चिलम करो अमल लो जीते रहो एक मारे कामड़ियो ना क्योड़ो है बनावनो जो आप रे वास्ते हूँ ले ना हाँ। आप है जो हो जाजो मती पधारजो मती सिद्धा हो को जमाने हांगा ठीक बात है तो आप जाओ आप गयो है जाज बांबी ने कहो भाई बांबी हाँ कामड़ियो मारे बनी जो नहीं बनी जो ए अंदाता जी कामड़ियो तो बने कोई नहीं हाँ एक गज बीचो रहो हो एक घंटों का आप जेज करो तो हमें इंगड़ी नली भोर परी अरे बन अरे आपने आपने बनाए अरे परोत देमा आप तो बटे बैठ गया आप है जो बाम्बी बनो बन परो कामड़ियो दे दी नो कामड़ियो ले अरे आप पाछा गया पाछा गया जिसने बाहर जी जाता रहा हाँ। ओ कामड़ियो जा घर मेरे तो माता हाँ बाल जी भाई वे तो जाता रहे अरे गजब कर दी ना यार माँ मारे कामड़ियों देनो उड़ो और जुल्म वाली बात हुई यार गजब कर दी ना किसी जेज कितनी हुई कि भाई हमें खासा गया परा बेचार चार को माधे गया गया ओ माता गजब किया हमें पाचा कदी तो आई और कदी नहीं आई पतो कोई नहीं आई तो नहीं ले जाओ तो बेटी बेड़ा आप ईर्षदा जी बुआ जना आपरी माता ने कहो ए माता કામડીઓ લાવણને ગયા હે હાંગો હું પાછો ગીરતો આપણે કે આ હું પાછો ગીરતો હું કામડીઓ લઈ જાઉં હાંગેને કહ્યું હોશ નહીં કરે છું પાછો ગીરતો હું આપણે માં કરપ્યો जुगा बाबा अब जुगा बाबा जिये देव सभा जिये हूं करे गोदनाल फूल मरे भाषणा जिये जिये सभा गो छत्रधारी इन बात वास्ते ओ तो आप रो हारो दिन उगो अरे ले टोगड़िया माने ओ तो टोगड़िया चालने गयो बरो गाँव ગામ રે બાય ગામ રા ટોગડિયા हाथ હાથે હાથે છોકરા આ દસ પંદરે આપણે ટોગડ કિયા ચાણને ગયા પરા બિન ટેમ રે માલે કાની બરસાત उमटी बरसात की भावरी उमटी मत पूछो बाता से अड़ियो ऊपर भाकर पड़े हो आर बेटी रे बाबरी दंजी महाराज भजन में गया है बी टेम रे माले का नहीं नंदी आई है नदी आई तो ही भावरी आई तो मत पूछो बात नदी बेटी घोड़ा दे थानू गोड़ा खाती बेवे और बच जाए एक था कोड़ी टोगड़ की लाल ला टोगड़िया तो हैंग निकल गया एक था किसी टोगड़ की बिलखी वहाँ टोगड़ की पानी रे मार जाती आप पानी में होश गयो तो टोकड़ की जाती रही गजब है आ गंगोत्री है माता है ले चरण की है देखते देखते जाती रही तो गजबाड़ी बात हो यूं कही कि हंगा बारी टोकड़ की मर गई अरे आप पकड़ी को नहीं तो टोकड़ी जी अरे बारी भावना बेड़ी है अन की कर हुए देखा नहीं भगवान की कर करे हाँ। ओ तो टोकरी की गले रे रवाने हो गयो और बे हाथी उबा किनारे रे माथे बाबा माने देख बोले अरे भाई एक बात क्यों थाने तो कह दो हांगा कई बात है एड़ी बात करूं कि ईश्वर दास जी बात सी ने मैं कहो कामड़ियो बाबा वो कामड़ियो मारी माँ ने कह जो हूँ किटा मोड़ो जाऊं बेगो जाऊं सता है कहीं पतो को नहीं अरे पानी है भाई जड़े હવે ડૂબી જાવા આ ટોકડકી નહીં આવી જીતે હું પાછો આવું કો આવું કોની? નહીં તો મારી માને એવું કહેજો જેકો ભાઈ રે वो કામડીઓ ઈશ્વરદાસજી પાછા આવે જણા દે દેજો બક્ષિસ કરી દેજો बाबा तो कशा कर दिया અને બોલ્યો કે નંદી તેરંતો જાય થે સાદ સુણો રે સાથિયા ओ कहजो मोरी माया कविया ने दे कंबड़ो नंदी तिरंता जाज थे साद सुनो रे साथिया ओ कहजो मोरी माया कविया ने दे कंबड़ो यूं कहियो भाई उदग्योड़ो है मारे राखनो कोई नहीं बार जी आवे जना दे दियो દે जो उदगीड़ो राखे तो भाई તો ठोक होवे की હોય होवे को હોય के હાંગા કે दू ઉદગણા राणा રણા गऊ मार इतरा गुना गुनाना बगछिए हे दर जोजना कमार दाना उदगणा राणा रणा गऊ मार इतरा गुना गुनाना बगछिए हे दर जोजन कमार जो उदगीड़ो दान रह जावे तो गऊ भलाई फिर दो और उदगीड़ो दान राखो दान उदगण दूधियण और जो दान उदगड़ो राखो और खर्रे में दम लगाओ विनो कितरो पाप हुए कितरो पाप हुए दान उदगण दूधियण हरण भांगण गाँव रो कांकड़ हुए और कांकड़ आगो पचो हड़ा फिरो बे हड़ा हिरकाए दे तो गाय ने फिर दो और वो कांकड़ हिरकावो इतरो विरो पराचित हुए जुगा बाबा ये देव सभा बिन टेमरे माले का नहीं शाइयारी कुदरत हुई तो वह एक कड़ा है बीगी कड़ा ने कोई पोछे ही को भी पानी ने माए लोडो आयो पानी कड़ो का आयो बहुत बड़ो भारी आयो दे पानी रे मां आ दगे तो ठोकड़ी एन लारे आप कटई डूबे कटई तिरे कटई डूबे कटई तिरे यूं करते करते उत नदी के माए तिरी गयो जुगा बाबा करना भगवत का हो गया ज्योतिष रूप का हो गया हमें कहीं जोर करे और के नहीं करे हमें भगवान बन जावे तो बंचे और निजना ईश्वरदास जी बचावनी हाथ जो कोई बचावनी हो ही को जुगा बाबा करना भगवत का या ज्योति स्वरूपी महाप्रभु रा या ऐशो गरीब नवाजा बिन टेमरे माले का नहीं वो तो पानी में डूब गयो दिन तीन हो गया बर्स जी आगा गया आगा जाए परा तीन दो चार दिन तो रहा बटे अरे पासी होची કે ઈશ્વરદા હાંગો મને મળ્યો કોઈ તો અમે પાછું કરતો હાંગે હું મળે અરે પછી જાવા રાતભર હાંગે રે રહ્યા અરે હાંગને કઈ હુણાયું કોઈ નહીં કઈ કેવદ્દુ આવી કો કયા નહીં તો કઈ છંદ ગીત કો બનાયા નહીં તો અમે પાછું કરતો હાંગે માં કરે જુગા બાબા એ પાછા આયા હે બે ટેમરે માં કાની ડોકરી આવતા દીઠા અરે જીવરે માં જાણ્યો જે અમે હું ભેર્યા જી હું ડૂબ ગઈ કોઈ શ્રદ્ધાથી જે જ કરે કોઈ અરે જુલમાની વાત હોય જાય કેવડો દાન રહે જાય હાંગો તો ટોગડી गयो है अरे छोरा के पानी में गयो तो हम तो डूब गयो अरे हमें पाछो आई कि नहीं आई परमात्मा जाने अरे आवे की आवाज तो आज तीन दिन हुआ है आज यार अरे नहीं जाना कहीं आवने कहीं जावने हमें कुछ होए नैना झले नीर चश धारा आशू चले तुम बे गोबड़ जे बीर जा हल ना पियर जरू नैना न झले नीर चश धारा आशू चले तुम बे गोबड़ जे बीर जा हल ना पियर जरू नवगण न आयो मरे तूरी बिरिया मने ओ जामण न जायो धव आयो सामे धड़े नवगण न आयो मरे तूरी बिरिया मने ओ जामण न जायो धव आयो सामी धड़े जुगा बाबा ये देव सभा जी हूँ करो देना जीए छत्रपटिया राजा वांगो दानवा राजा गरीब भरवर और जीए कैलाश चंद्र जी और बहुत हथया करा बात करा साहिब ओ है जी के आओ तो दिठो अरे हम है गई जाए प्रभु आगे पिछोड़ो है देखे बिछावनो कियो है और आप बिछावन आए नीचा बैठा है इन्हें छाती कड़ी जाली के बहुत बड़ाई कर परी और छाती जाली ओहो धन्यवाद उन्नी माता पिता ने इं जानियो के ओहो हो बे भगत उबर सी गला अरे दोरे दान थावो सी के पाड़ो सन पालो और गीगो ढाको जायो पूत मरे सी पण नाना सो को सारो पावण हो हे सखी हो ईश्वर घरे कदे आसी वे जासी भगत आ भगत वारे जाती रही ईश्वर दाजी मारे घरे रह कोई नहीं वो परमात्मा है वो इलाही जो कोई लावणी हो को है बेजासी भगत उबर सी गला धोरे दान थावे सी के पाड़ोसन पालो और गीगो ढाको जायो ही पूत मरे सी के को सारो पावणो हे सकी ओ ईश्वर घरे कदे आशी जुगा बाबा पाड़े पाड़ू या जगह नहीं पाल देना के भाई रे बांध तो बद करियो ना बार जी रात रात मारे कने रहा है और आ हिया है जिन्हें वाद है जो रात रात सेवा बजाऊं स्वर रहा प्रभुआ जुगा बाबा बाबा आप बैठ गया आ रोका पानी किया अमल दिजा लिया सलमी आचार्य होको पिए हाँ हाँ ईश्वर जी ने जितने पत्तो नहीं और आप बैठा बैठा माड़ा फेरे और होको पिए अमल ले है खागा खण कारा हो कारा तुरिया हुए आज तिण भिरिया तेजारा तू धूणो आजे दाणावत खागा खण कारा हो कारा तुरिया हुए तू आज तिण भिरिया तेजारा धूणो आजे दाणवत सोन सोपीरी कामणी तने के अमली जी नार ए भाई लिखी आ जाने लाभ सी जेके भड़ अमली भरे तार भड़ अमली भरे तार सदामन भावणो उमंग चढ़े अशवार तुरी खेलावणो रेगटी गलणी ताशड़ी प्याला भर पावणो पणना सदा सुरंगे साथ पधारो प्रावणा सुन सोपीरी कामणी तरे के अमली जी नार ए भाई लिखी आ जाने लाभ सी जेके भड़ अमली भरे तार भड़ अमली भरे तार सदामन भावणो और उमंग चढ़े अशवार तुरी खेलावणो रेगटी गलणी ताशड़ी प्याला भर पावणो ब्राह्मणों पढ़ना सदा सुरंगे सात पधारो ब्राह्मण जुगाम बाबा आप अमल ले और इन सीधो सेवान बनायो बूढ़ी माऊ सीधो बनाए परो अच्छी तरह हूँ और बत्तीस भोजन तैतीस साधना बनाए परा जी जो कम माता आप रे जो संज्ञा बांधनी हुए माला फेरनी हुए तो माला फेर दो और ब्यालू री ताकी दी उगी है और आप जो माला भोजन करो गिरी परवर हाँ माँ भोजन जी माँ थोड़ी माला फेर लूँ भगवान की ईश्वरी आर पछ जी तो क्या ठीक आप तो माला फेरने बैठा और बी टेम मैं अंदर ध्यान लगायो अंदर ध्यान लगायो और मालूम पड़ी कि हांगो तो है ही कोई ओहो भला भगवान आ रा रा रा रा रा रा रा रा धारी माद रहा हूँ धारी जुल्म वाली बात होगी हूँ अठे आए राजरो रह गयो और हांगो संसार में है ही कोई नहीं तो ईश्वर आया ही नहीं आया आधार धार परी और खरी मन रहे माँ भगवान की अलगो तो है कोई वो निकल के तो हाँ भेड़ो ही है हाँ। निकल कोई अलगो थोड़ी है वो तो, तो वो तो बिरदाई है बिरदाई की हाँ जुगा बाबा मारा फिर ऐरा फिर के बैठा ऐरा थार ले बच गई अबे की कह हे अन्नाता जी साहब आप है जो हिरावण करो ब्यालू करो अर ब्यालू आ जा रहे माँ एड़ी बात है हांगो आई जना ब्यालू करा हांगो में रो ए अंदाता जी साहब हांगो खटो आ जाए हाँ हाँ हांगो तो नाइट गियोड़ो है टोगड़ी दे लारे और कदी आवे आवे पांचे दिन आवे हाथे दिन आवे दसे दिन आ नाइट गियोड़ो है ना कूड़ नाइट ने कूड़ प्यारो है कटे आगो पूछ तो पूछ जातो रियो है और पाछो आयो को तो माँ छो नहीं आयो पर आप यूं करो के काई ओछो त्याग मन जो वो महारू तणो ओ नंकिया बेड़ू नाग साद जके सांगे किया काई ओछो त्याग मन जो वो महारू तणो ओ नंकिया बेड़ू नाग साद जके सांगे किया बाबा जुगा बाबा जिए देव सभा जिए हुकर को देनाल फूल मरे भाषणा जिए माँ हांगो आवे है हांगो आई जना हूँ ब्यालू कर अरे बाल जी हांगो के ठाक नहीं आई अरे आप मेहरबानी करो अरे आप ब्यालू रोटी ठंड जाई अरे थाल ठाडो जाई आप मेहरबानी कर ब्यालू कर लो ना माँ ब्यालू हमें हांगो आवे है ते होच मत करो ना हांगो आवे है हांगो आई देना ब्यालू तो हमें जीव रे माँ यूं जाने माता तो के हांगे ने तो आज चार दिन या ज्ञान है पानी रे माँ अरे पाछो आऊं तो कोई मेरा ही को है नहीं तो अरे मारे टाले एक पलक तो रहते हो कोई नहीं एक घड़ी हो जाते हो